आप और हम बैठे बैठे देखते रहे ये तो अच्छा नहीं लगता बताओ कुछ करो धरोगे या नहीं ये बताओ है नहीं करना धरना ऐसे ही लुटते पिटते रहोगे या लुटाई पिटाई से बचना है ये बताओ हम तो सीधी बात करते हैं और वही बात करते हैं जो भगत सिंह और सुभाष कहते थे भाई आप खून दो हम आपको आजादी देंगे ये दिमाग जब तक नहीं बन जाता व्यक्ति भारत के अन्याय के साथ वो युद्ध नहीं कर सकता मरने देने की बात न सोचो हम तो इस अन्याय को उखाड़े ये ऋषियों की मान्यता है जी स्वामी दान कहते हैं भाव सुनाता हूं चाहे अन्यायकारी चक्रवर्ती राजा भी क्यों ना हो उसका विरोध करो उखाड़ के फेंको उसकी बात हम नहीं मानेंगे चाहे कितना ही दारूण दुख क्यों न हो और चाहे प्राण भी क्यों न चले जाए अन्याय का अन्यायकारी का विरोध करो ये है जीना नहीं तो मरे जैसे बैठे रहो गांव नगरों में जाके जगाओ विद्वान तैयार करो हमारे पास हमें तो याद रखना पढ़ाने वाले हम तैयार थे आज से 40 वर्ष पीछे चलिए और हमने योजना पहले से बना रखी थी विद्वान बनाने हैं योगी बनाने हैं वेद के परंतु याद रखना सरकार नाम की चीज एक पैसा देने के लिए तैयार नहीं और प्रजा अपनी इंग्लिश पढ़ाने में लगी हुई है वो हमको एक पैसा देने के लिए तैयार नहीं हमारे पास में न भवन है न हमारे पास में कपड़ा है न घी है न दूध है ये जब अवस्था जब ऐसी थी तो हम इतना कैसे कर पर हमने करना बंद नहीं किया कभी करेंगे हम जितना कर। करते आए और यदि प्रजा राजा हमारे साथ होते तो आज भारत की ये दुर्गति नहीं होती ये राजनीति इतनी प्रदूषित न होती ये अन्याय आगे न बढ़ता इंग्लिश भाषा हमारे ऊपर गति राजगति की भाषा न बनती ये चरित्रहीन भारत ऐसे नहीं होता जैसे आज हो रहा है तो ज्ञान कर्म उपासना यदि संतुलित है तीन तो व्यक्ति का जीवन संतुलित है और वो निश्चित रूपेण सफल होगा और यदि तीनों ठीक नहीं है तो व्यक्ति असंतुलित होगा अपना जीवन बिगड़ेगा उसका और समाज को बिगाड़ेगा थोड़ा सा संकेत देता हूं ज्ञान के क्षेत्र में तीन विषय हैं ज्ञान के एक ईश्वर एक आत्मा और भौतिक विज्ञान ये तीनों विषय व्यक्ति को आने चाहिए किसी को कम आई अलग बात है कोई बहुत उच्च कोटि का विद्वान बन जाए कोई मध्य कोटि का पर ज्ञान तीनों का होना आवश्यक है यदि तीन का ज्ञान नहीं है तो व्यक्ति का संतुलन बिगड़ेगा यदि ज्ञान हमारा ठीक काम करता है तो हम धार्मिक बनेंगे धर्मात्मा बनेंगे अधर्म से बच जाएंगे यदि ज्ञान हमारा ठीक काम करता है तो ईश्वर की उपासना विधि पूर्वक करेंगे ईश्वर कैसा है कैसे उपासना करें अच्छा देखो आपको बुरा नहीं लगेगा तो आप नगर और गांव से जो आए हैं उनसे कुछ बातें पूछ लो माता जी से पूछ सकते हैं नाराज न हो जाए कभी ये भय रहता है <laughs> भाई हम तो सीधी आजकल की बात करते हैं प्रश्न उत्तरों से नहीं तो उपदेश से कोई अकेले से क्रांति आने वाली नहीं है माता जी से मैं पूछूंगा क्योंकि ये जहां तक मुझे पता चला बहुत ऊंचे ऊंचे कार्य करती हैं बड़े मैं आपसे भी पूछूं माता जी से भी क्या ईश्वर कोई वस्तु है क्या जो आप वस्तु मानते हैं तो हाथ खड़ा करो अच्छा जो वस्तु नहीं मानते तो हाथ खड़ा करो ऊपर करो थोड़ा पता माता जी बताएंगे मैं दोहराता हूं ईश्वर वस्तु है क्या हाथ खड़ा करो वस्तु हो तो अच्छा नहीं है तो हाथ खड़ा करो करो डरते क्यों आप भी बताओ माता जी ने कोई तो हाथ खड़ा करो उसको हम बताएंगे तीन में से एक और तो हाथ खड़ा करना खड़े ईश्वर वस्तु है तो हाथ खड़ा करो आपने प्राय नहीं किया वस्तु नहीं है इसमें हाथ खड़ा किया ये दो और किसी ने हाथ ही खड़ा नहीं किया अब ये इसलिए बताया ज्ञान का क्षेत्र कैसे ढीला है ईश्वर के विषय में उल्टा ज्ञान है आपने ईश्वर वस्तु नहीं है इसमें तो हाथ खड़ा कर लिया और वस्तु है इसमें हाथ खड़ा नहीं किया तो आप बिना पढ़े लिखे हो क्या समझ में आया ईश्वर के विषय में आपने पढ़ाई नहीं की अब तो आया समझ में तो याद रखो थोड़ा सा बतलाऊ ईश्वर एक वस्तु है ईश्वर एक पदार्थ है ईश्वर एक उर्दू में चीज है क्या याद करोगे दोहरा लो है जो मैंने बोला वही कह दो कम से कम संदेह हो गया होगा कि ईश्वर वस्तु क्यों है वस्तु की परिभाषा आज का भौतिक विज्ञान उल्टा सीधा सिखाता है तरल हो रूपवान हो मशीनों से दिखता उसका नाम वस्तु रख दिया उसने ईश्वर ने तरल है न रूपवान है न भारवान है न यंत्रों से यो वस्तु वस्तु कुछ नहीं मैंने कहा मूर्खता की बात अध कचरा विज्ञान अब सुन लो जिसमें गुण रहते हैं उसको वस्तु कहते हैं दोहराओ याद कर लो कम से कम एक आध पाठ तो याद करो पक्का जिसमें गुण रहते हैं उसको वस्तु कहते हैं उसी को पदार्थ कहते हैं उर्दू में उसी को चीज कहते हैं नहीं आज समझ में जल एक वस्तु है उसमें शीतलता तरलता अग्नि एक वस्तु है उसमें उष्णता शक्ति ये रहता परंतु ये जड़ वस्तु है परमात्मा चेतन वस्तु है क्या समझ में आया हम ईश्वर चेतन वस्तु है मैं जैसे चेतन हूं और आप भी चेतन है शरीर नहीं आत्मा जैसे हम चेतन है ईश्वर भी चेतन वस्तु है ये हमारी गाड़ी है ये हम नहीं है ये शरीर है ये हमारी कार है और हम इसमें बैठ के चलाने वाले हैं हम आत्मा चेतन है हम भी वस्तु हैं ईश्वर में ज्ञान गुण है ईश्वर में अनंत बल है ईश्वर में अनंत आनंद है इसलिए ईश्वर दोहराते तो रहो कम से कम या नींद आगे थक गए आप सुनते सुनते ईश्वर वस्तु क्यों है दोहराओ ईश्वर में अनंत बल है ईश्वर में अनंत ज्ञान है ईश्वर में अनंत आनंद है ईश्वर में अनंत क्रिया है कितनी बात हो गई कौन कौन सी बोल लो थोड़ा सा ईश्वर में अनंत बल है दूसरी बात ईश्वर में अनंत ज्ञान है तीसरी बात ईश्वर में अनंत चौथी बात ईश्वर में अनंत इसलिए ईश्वर वस्तु है जिसमें ये बातें पाई जाए वो वस्तु होगी हाँ जड़ वस्तु अलग है चेतन वस्तु ये भी ज्ञान है आत्मा और ईश्वर दो चेतन वस्तु है और भौतिक जगत जो बच गया वो जड़ पर है पूरा का पूरा तो इसलिए ज्ञान ठीक करो फिर कर्म ठीक करो फिर भक्ति उपासना ठीक करो आप सफल हो जाएंगे और समाज को देन देंगे आप राष्ट्र में एक बहुत बड़ा अच्छा भाग खड़ा कर देंगे बनाकर तो जीवन को संतुलित रखने के लिए शुद्ध है ज्ञान शुद्ध है कर्म शुद्ध उपासना तीन साधन चाहिए इससे व्यक्ति लौकिक उन्नति करता हुआ ईश्वर तक पहुंच जाता है मोक्ष में पहुंच जाता है और औरों को भी मोक्ष में ले जाने का अर्थात इस विद्या को सिखा के मोक्ष तक पहुंचाने का सामर्थ्य उत्पन्न कर लेता है अब विराम hmm. भागवतगण धर्म प्रेमी सज्जनों विद्या कर्म उपासना ज्ञान कर्म उपासना इनका संतुलन करने से व्यक्ति का जीवन सफल होता है इन तीनों का संतुलन ठीक न होने से व्यक्ति का जीवन विफल होता है एक भाग उपासना का ध्यान से आप देखें कि जब व्यक्ति उपासना करता है तो वह किन किन बातों का ध्यान रखता है किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब उपासना को वह प्रयोग में लाता है उस काल में यदि उसका ज्ञान ठीक कार्य नहीं करता तो उपासना ठीक नहीं होगी इसलिए उपासना करने वाले व्यक्ति को उपासना करते समय अपने ज्ञान को ठीक कर लेना चाहिए जैसे कि उपासना की सज्जा तैयारी कैसे करता है व्यक्ति जब उपासना का समय आता है उपासना करने का काल उपस्थित होता है तो पहले से ही वह व्यक्ति सावधान होना आरंभ हो जाता है स्वयं को सावधान करना आरंभ कर देता है लोक में जैसे परीक्षा देने वाला विद्यार्थी जो परीक्षा का समय आता है तो बुद्धिमान विद्यार्थी स्वयं को बड़ा सावधान करता है कि जो जो विषय मैंने सुसज्जित किए तैयार किए उनमें से कोई मैं भूल तो नहीं गया हूं इस समय मुझे परीक्षा में लिखने वाले विषयों के अतिरिक्त किसी विषय का समरण नहीं करना चाहिए वो देखता है यदि मैं बाहर के विषयों में विचारने लग गया सोचने लग गया तो परीक्षा देने के काल में मैं ठीक प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता वो ये जानता है साधक जी आया समझ में क्यों जी संदीप जी क्या समझ में आया यदि विद्यार्थी परीक्षा काल में मन को खुला छोड़ बाहर की बात यदि विचार तो वो परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर ठीक नहीं लिख सकता या लिख सकता है नहीं लिख सकता इसलिए बुद्धिमान विद्यार्थी क्या करता है वो कहता है इस काल में दूसरे विषय नहीं उठाने चाहिए कुछ भी होता रहे संसार में नहीं उठाने बस जो प्रश्न उठाए जाएंगे उनका उत्तर मैं दूंगा और बीच में भी नहीं उठाने वो जानता है यदि मैंने बीच में उठाए अन्य विषय तो जो याद है वो भूल जाऊंगा और जो लिखना है वो नहीं लिख कुछ और लिखा जाएगा उसमें उसको नियंत्रण रखना पड़ता है विचारों पर इन इन विषयों में मन को लगाना है इन इन विषयों में मन को नहीं लगाना ये निर्वाचन काट छाट को करनी पड़ती है और जो विद्यार्थी ऐसी काट छाट करना नहीं जानता निर्वाचन करना नहीं जानता वो विफल हो जाएगा परीक्षा में ऐसे ही उपासना काल में जो ऐसी काट छाट करना नहीं जानता उपासना के काल में संध्या के समय में जो व्यक्ति मन को खुला छोड़ और विषयों को उठा लेता है मुख्य विषय ईश्वर को छोड़ देता वो विफल हो जाएगा उपासना में सफल हो ही नहीं सकता संध्या में जप में योगाभ्यास में विफलता का ये मुख्य कारण रहता है कि वो उपासना काल में दूसरे विषयों को उठा लेता गायत्री का जप करते हैं या नहीं जो बाहर से आए कर लेते हो कभी अच्छा कभी परीक्षण करके देखो संध्या काल में जप के काल में बाहर की बात व्यापार की बात खेती की बात दुकान की बात उठाओ एक दो वो सारी संध्या उसी में चली जाएगी खेती की बात हो दुकान की बात हो किसी का देना लेना हो उपासना आदि कुछ नहीं होगी वही बात आप उठाते रहेंगे उसी को दोहराएंगे और फिर कहेंगे कि क्या हुआ कि आज संध्या ही नहीं हुई और ही कुछ करते रहे इतने समय परिणाम ऐसा निकलेगा दूसरी बात क्या सावधानी है सावधानी ये है उस, उसके कर्तव्य में उपासना में कि जिस ईश्वर की प्राप्ति के लिए जिस ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए जिस ईश्वर से अपना संबंध जोड़ने के लिए वो व्यक्ति उपस्थित हुआ है उस व्यक्ति को ईश्वर के प्रति कैसे भाव विचार रखने चाहिए यदि वो विचार भाव उसको ईश्वर के स्वभाव के अनुरूप होंगे उपासक के तो ईश्वर की ओर से उसको सहायता मिलेगी यदि उसके भाव वो नहीं होंगे तो ईश्वर की ओर से सहायता नहीं मिलेगी उसमें ज्ञान सुख बल श्रद्धा ये सभी सामर्थ्य ईश्वर की ओर से उत्पन्न होता है अथवा ईश्वर देता है वो ईश्वर की ओर से नहीं मिलेगा उसको ईश्वर सर्वज्ञ है वो जानता देखता है ये उपासक मेरी उपासना करने बैठा है या दुनिया की बात विचारने बैठा है वो ये देखता है समझ में आया नहीं आया क्यों जी ध्रुवदेव जी क्या समझ में आया ईश्वर यह देखता है कि उपासक मेरे विषय में विचार कर रहा है या दुनिया की बातों के विषय में विचार कर रहा है आपको ये देखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि ईश्वर मेरे व्यवहार को अशुद्ध अनुचित मान के मुझे सहायता देनी छोड़ दे ऐसा न हो जाए वो सावधान है इस सावधानी को जो करता है वो ईश्वर के साथ अपना संबंध ठीक जोड़ के ईश्वर की सहायता को ले लेता है ईश्वर की उसे सहायता मिलती है आपने पढ़ा सुना पढ़ाया होगा दर्शनकार उपनिषदकार भाष्यकार बार बार ईश्वर पर निधान की बात कहते ईश्वर समर्पण की बात करते कि ईश्वर परिधान से जट समाधि हो जाती रणबीर जी सुनाएंगे ईश्वर परिणिधानात वा इस सूत्र पर भाष्यकार ने क्या लिखा है ये आपकी परीक्षा हो जाएगी आपको याद भी है यानी ये पता चलेगा तम अभिध्यान मात्रण अनुग्रहणाति हम्म। ईश्वर उस योगी को अभिध्यान मात्र से संकल्प मात्र से उसको अपना लेता है ग्रहण कर लेता है आप बोलिए सर्व तत्फल संन्यास होगा अच्छा ये दूसरे प्रसंग का ईश्वर दान है जो आप बोल रहे हैं ये है दूसरे पाद का वो है पहले पाद का क्या समझ माया आप भी ठीक बोल रहे हैं वो जो तपस् स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानी क्रिया योग आप भाष्यकार की बात अच्छी तरह बोला करो हाँ हाँ जी हाँ जी क्या सुनाया ईश्वर प्रणिधानात अर्थात भक्ति विशेषात भक्ति विशेषात आवर्तित आवर्जित आवर्तित है हाँ, दो तरह का पाठ हाँ तम मात्र मात्रेण ध्यान मात्रेण का क्या अर्थ है साधक जी नाम समर्पण वाला अर्थ है इसका कि सब क्रियाओं को ईश्वर को समर्पित करके और अपना कुछ न मान करके जो समर्पित हो जाता है थोड़ा सा प्रकरण छूट गया हाँ जी विशाल जी अभिज्ञान मात्रेण अर्थात संकल्प मात्रेण हाँ ये संकल्प मात्रेण जो है ये कौन करता है संकल्प मात्रेण संदीप जी ईश्वर करता है या जीवात्मा के भी धान मात्र ईश्वर तम आदि या ये है हाँ ध्रुवदेव जी संकल्प मात्र से जीवात्मा को ग्रहण करता है उस पर अनुकंपा करता है आवर्तित आवर दूसरा पाठ हाँ, ईश्वर अनुकूल बनाया हुआ अर्थात ईश्वर अनुकूल बनाया हुआ का मतलब है ऐसा व्यवहार किया जिससे ईश्वर उसके अनुकूल हो जावे ये मतलब है दिनेश जी बोलेंगे ईश्वर अनुकूल कैसे हो जाता है ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने से हम्म। ईश्वर अनुकूल बन जाता है दो भाग व्यवहार में ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना और उपासना काल में अन्य विषयों को नितांत छोड़ के केवल ईश्वर की ही स्तुति प्रार्थना उपासना करना और विषयों को नहीं उठाना यदि उपासना काल में व्यक्ति भिन्न विषयों को लौकिक विषयों को उठा लेता है तो ईश्वर आवर्तित ये ईश्वर अनुकूल किया हुआ ईश्वर नहीं होगा ईश्वर प्रतिकूल रहेगा सहायता नहीं मिलेगी तो आपको देखना है कि उपासना काल में व्यक्ति ईश्वर को अनुकूल कैसे बनाए एक दृष्टांत आप उपासना काल में किसी सुंदर वस्तु को याद करते हैं उसकी ओर रुचि होती है आपकी सुंदर रूप देखा कभी आज या पहले कभी और उपासना काल में वो सुंदर रूप की स्मृति उठा ली गई उसमें रुचि हो गई तो परिणाम ईश्वर प्रतिकूल हो गया वहां पर उस रूप की उपासना करता है वो व्यक्ति और ईश्वर की उपासना को छोड़ देता है कभी कभी ऐसा भी होता है विद्यार्थी परीक्षा देने वाला किसी शास्त्र को पढ़ने वाला अपनी विद्या की बातों को उठा लेता है आज मैंने ये पढ़ा आज ये बात बहुत अच्छी आई थी इसको तो याद रखना चाहिए इसको भूलना नहीं चाहिए वो ऐसी बातों को उठाया उसने जो पाठ के काल में आई उपदेश के काल में आई और उनको उठा करके बड़ी रुचि उत्पन्न हो गई उन बातों में उसकी कि अमुक अमुक बात बहुत अच्छी पढ़ी आज बहुत अच्छी सुनी आज और ये तो बहुत काम की बात है अब वो इसको बुरा नहीं मानता क्यों ये तो विद्या की बात है ऐसा सोचता है पर समण रखना इससे भी ईश्वर विमुख होगा अनुकूल नहीं होगा हाँ जी क्या समझे जैसे व्यवहार काल में जो विहित बातें होती हैं या उन्नति के कारक बातें होती हैं वह उपासना काल में उठा लिए जाने पर भी ईश्वर प्रतिकूल हो जाएगा अब कभी आप ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ते हो और उस उस प्रकरण को याद रखते हो तो आपको झट याद आएगा कि इस विषय में ऋषियों ने किस ऋषि ने कौन बात कहां पर लिखी है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमि का उपासना प्रकरण उसमें महर्षि दान सरस्वती ने लिखा है एक व्यवहार काल है एक उपासना काल है वहां का भाव सुना रहा हूं आप व्यवहार काल में बुरी विचारधाराओं को छल कपट आदि बुरी आदतें प्रवृत्तियों को बुरे कार्यों को रोक देना चाहिए और परोपकार के कार्य प्रीति पूर्वक प्रेम से वर्तना लेन देन में सत्य का प्रयोग करना प्रेम से रहना झगड़े न करना धर्म के लिए तन मन धन से सहयोग देना इनको तो उभारना चाहिए व्यवहार का चोरी आदि बुरे कर्मों को व्यवहार में रोक देना चाहिए ये व्यवहार काल की बात उसके पश्चात फिर कहा कि उपासना काल में अच्छी प्रवृत्ति परोपकार की प्रवृत्ति दान की प्रवृत्ति धर्म की प्रवृत्ति विद्या की प्रवृत्ति गरीबों की सहायता की प्रवृत्ति जितने अच्छे कार्य है उपासना काल में वो भी रोक देने चाहिए ध्रुवदेव जी बोलेंगे क्या कहा व्यवहार काल में मनुष्य को सत्य परोपकार विद्या दया दयालुता आदि भावनाओं को अधिक से अधिक उभारना चाहिए तथा उपासना काल में इन भावनाओं पर प्रतिबंध लगाना चाहिए केवल ईश्वर के विषय में चिंतन करना चाहिए यदि व्यक्ति ऐसा नहीं करता ये निर्वाचन काट छाट नहीं करता वो उपासना नहीं कर पाता परिणाम फल ये होगा इतना पढ़ने पढ़ाने पर भी इतना समय लगाने पर भी ईश्वर की ओर से उसको विशेष सहायता नहीं मिलेगी और वो सहायता नहीं मिलेगी तो समाधि भी नहीं लगेगी और समाधि नहीं लगेगी तो दुखों की निवृत्ति आनंद की प्राप्ति नहीं होगी परिणाम ये निकलेगा फिर भले ही वो वैदिक धर्म को उलाना देता रहे वैदिक धर्म में मैं ये करता आया वो करता आया संध्या करता आया सत्संग करता है मुझे तो कुछ पल्ले पड़ा नहीं भले ही ऐसे कहता रहे वैदिक धर्म का दोष नहीं है आपको मेरी भाषा समझ में आ रही है या नहीं है हाँ जी ये तो आप कच्छ के हैं ना शायद है हाँ जी आपको समझ में आया वैदिक संध्या में जप में ध्यान में योगाभ्यास में सफलता न मिलने का एक प्रमुख कारण है सफलता नहीं मिलती ये बात वहां पर जुड़ी रहती है व्यक्ति के दिमाग में कि संसार की बातें मुख्य और ईश्वर की उपासना गौण हाँ जी रणबीर जी क्या समझे ये बात उसके साथ संबद्ध रहती है क्या संसार की बातें मुख्य हैं और ईश्वर की उपासना गौण है ये बात वहां जुड़ी रहती है यदि व्यक्ति उपासना को मुख्य मान लेवे संसार की कार्यों को इनको गौण मानता रहे तो उसका दिमाग उपासना में भी यही काम करेगा कि संसार की काम करो ये तो ठीक है पर वो ईश्वर की उपासना से संसार के कार्य बड़े बिल्कुल नहीं है ईश्वर की उपासना सबसे बड़ी तब बहुत सा आकर्षण संसार की ओर से उसका हट जाएगा और ईश्वर की ओर आकर्षण हो जाएगा मुख्य मानने पर ये अंश तो है गौण मानना और मुख्य मानने की भूल एक अंश है असावधान रहना असावधान कैसे वो उपासक स्वयं को संयम में नहीं रखता चाहे जो कुछ आरंभ कर देता यदि वो सावधान है तो वो देखता है अब मैं क्या प्रारंभ करूं सावधान होकर के वो देखता है मुझे अब ईश्वर की उपासना प्रारंभ करनी है दूसरा कोई कार्य नहीं करना एक और बात बीच में जानने की कभी कभी उपासना काल में कोई आपत्तिजनक बात आ जाती है विशेष बाधा खड़ी हो जाती है उस समय क्या करते हैं क्या करना चाहिए उस समय साधक क्या करता है अपनी उपासना को रोक देता है और रोक करके और जो आई हुई बाधा है उसको दूर कर देता है और फिर उपासना में बैठता है कभी कभी बाहर की बाधा और विचारों की बाधा दोनों अलग अलग कल्पना कीजिए आप उपासना में बैठे और दरवाजा खुला छूट गया और जब बैठ चुके थे तब याद आया कि दरवाजा खुला रह गया कुत्ते घुसेंगे अब वो क्या करता है यदि उसको न बंद करे तो झंझट और करता है तो वह उसको संध्या छोड़नी पड़ेगी हाँ जी ध्रुवदेव जी क्या करना चाहिए दरवाजा बंद करना चाहिए दरवाजा उपासना को बंद करो और दरवाजे को बंद कर दो फिर उपासना में बैठ जाओ यदि आप नहीं करेंगे तो क्या होगा वो दरवाजा याद आता रहेगा बीच बीच में और आप संध्या नहीं कर पाएंगे उसने देखा धुआं उठ रहा है दुर्गंध आ रही है कपड़े जैसे जल रहे हों तो वो उपासना में बैठा है तो वो कहता है उपासना काल में कोई काम नहीं करना चाहिए उपासना काल में केवल ईश्वर की उपासना तो लापरवाही हो गई थोड़ी सी सारे कमरे में आग लग गई सब कुछ जल गया उसने यही सोचा अब उसने ये नहीं देखा एक बीच में जो आपत्तिजनक कार्य आते हैं उनको रोक दो फिर उपासना करो क्या समझ में आया बीच में जो आपत्तिजनक कार्य आ गया हाँ उसको निवारण उसका निवारण करना चाहिए फिर उपासना में बैठना चाहिए कभी कभी उपासना काल में एक ऐसी बात उठ खड़ी हुई जो ईश्वर में संशय उत्पन्न कर दिया उसने क्या समझ में आया मन में सोचने लगा वो जिस ईश्वर की हम उपासना करते हैं उससे मुक्ति हो जाती है सारे क्लेशों से व्यक्ति छूट जाता है किसने इस ईश्वर को देखा है आज तक कोई बता नहीं पाया कि ये ईश्वर खड़ा है ये ऐसा ऐसा ईश्वर होता है आज तक इन्हें ये बताया नहीं मेरे सारे दुख दूर हो गए हैं और ये ईश्वर से मुझे आनंद मिला है ये बात तो कुछ कहने की है कोई वास्तव में ईश्वर कोई ऐसा पदार्थ हो ये नहीं जचती बात तो अब क्या संध्या करेगा वो बताओ नहीं आया समझ हाँ जी बोलिए क्या करेगा संध्या नहीं कर सकता स्वामी क्यों क्योंकि वो संदेह है उसके मन में बना रहेगा और वो उसे आगे बढ़ने नहीं देगा अब दो बातें सामने आई संध्या को रोकेगा वो संशय नहीं होने देगा अथवा वो कहेगा मैं संध्या के समय कोई विचार नहीं करूंगा क्यों ऐसा नियम मैंने बना रखा है विचार तो उसने करना नहीं और संशय को हटना नहीं तो संध्या होगी या नहीं होगी हम्म? नहीं आया समझ में साधगिरी क्या समझ में आया जो वैचारिक बाधाएं आ जाती हैं हम्म। तो उस समय उन बाधाओं को हटा लेना चाहिए उपासना बंद करके हम्म। और जब वो बाधा हट गई तो उपासना पुनः प्रारंभ कर देना चाहिए ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने तो कुछ नहीं विचारना इसलिए नहीं विचारूंगा और बाधा को नहीं हटाता तो उपासना नहीं होगा अब ये जानना है कि वो बाधा खड़ी हुई है और बाधा को हटाते कैसे है अब वो जानता नहीं बाधा को हटाना तो नहीं जानता तो वो संध्या भी नहीं होगी बाधा भी नहीं हटेगी दोनों ही काम नहीं होंगे न संध्या होगी न बाधा हटेगी यदि हटानी सीखी है इसने ये जानता है कि ईश्वर के होने में वेद का प्रमाण दर्शनों का प्रमाण उपनिषदों के प्रमाण सत्यार प्रकाश का प्रमाण आर्य समाज के नियम और प्रत्यक्ष प्रमाण दृष्टांत से संसार देखते हम ये इतनी विचित्र रचना ऐसा शरीर का निर्माण उसने झट प्रमाणों को लाके खड़ा किया वेद दर्शन उपनिषद अनुमान प्रमाण और कहने लगा ये संदेह उत्पन्न हुआ क्यों ईश्वर है या नहीं है ये क्यों हुआ उत्पन्न वो कहता है ये मेरी अपनी मूर्खता है मैंने उठाया है संदेह मैं मूर्ख हूं <laughs> ये कहेगा मैं बेसमझ व्यक्ति हूं मैं अपनी मूर्खता के कारण ये संदेह को उठा के बैठ गया आज ऐसी भूल नहीं करूंगा इसलिए ईश्वर है फिर संध्या आरंभ कर दी उसने वो फिर वो विचार छेड़ने लगे साधक जी वही संदेह वाला एकदम नीचे हटेगा वो ऐसे हटने वाला नहीं है इतना सरल नहीं है जितना कह देते हैं लोग वो फिर छेड़ता है फिर छेड़ता तो सावधान है उसने एक और नियम बना रखा है देखो अब तो समाधान कर लिया मैंने ईश्वर है संदेह नहीं रहा अब जो विचार मैं उठाऊंगा ही नहीं संदेह उठता क्यों है जीवात्मा की प्रयत्न से द्रौपदी जी क्या समझे संदेह जीवात्मा के प्रयत्न से संदेह अपने आप तो नहीं उठता हम्म? अब नहीं पकड़ पा रहे जान हाँ जी बोलिए रणवीर संदेह अपने आप नहीं उठता वो वो वो जैसे नहीं उठाना चाह रहे ना वो संदेह उठ रहा है वो कहता नहीं नहीं संदेह नहीं आना चाहिए वो फिर उठ रहा है कौन उठा रहा है इस संदेह को स्वयं जीवात्मा उठाता अच्छा वो क्या कहता मैं मूर्खता की बात करता हूँ ये पागलपन है मैं, मैं नहीं उठाऊंगा संदेह उठेगा क्यों नहीं उठाऊंगा तो पता चल गया संशय संशय को उठाने वाला मैं हूं और मैं नहीं उठाऊंगा कैसे उठेगा एक घंटा के पीछे उपासना करके फिर इसको देखूंगा क्या समझे आप <laughs> नहीं आया समझ में है हाँ जी विनोद जी क्या समझ में आया है अब ये संदेह जो उभर रहा है या मैं उभार रहा हूं यदि वो ये कहता है कि संदेह उभर रहा है मन उभार रहा है फिर तो उसकी संध्या होने वाली नहीं मनु भारता रहेगा वो रोकता रहेगा मनु भारता रहेगा वो रोकता रहेगा यदि इसको पता चल गया या ज्ञान काम करता है कि उठाने वाला तो मैं हूं मन मन कोई चेतन पदार्थ थोड़ा ही है मन तो कार की तरह चलाते हैं हम कार चलेगी जब जब हम चलाएंगे मन चलेगा ही नहीं ये तो ये तो भाई अज्ञानता की बात है मैं ये मानता हूं कि मन उठा रहा है संदेह को इंद्रिया उठा रही है संदेह को मस्तिष्क उठा रहे हैं संदेह को नहीं ये अज्ञान की बातें नहीं उठा नहीं सकते न शरीर उठा सकता न इंद्रिया उठा सकती न बुद्धि उठा सकती कुछ भी नहीं उठा सकता मैं उठाता हूं ये सावधान हो गया इसको विद्या समझ में आ गई विद्या तो ये है ये तो विद्या है ये अब नहीं उठाऊंगा नहीं उठाना इस आधार पर उसने रोक दिया और बड़ी शांति से वो संध्या करने लगा इसका ज्ञान कच्चा होगा मन के विषय में इंद्रियों के विषय में कच्चाई भी होगा तो फिर फिर उठा डालेगा वो क्या समझ में आया नहीं आ समझ में कच्चा जान होगा उसका पक्का नहीं होगा या मन पर पूरा नियंत्रण नहीं होगा तो फिर वो मन को फिर उठाएगा फिर उठा करके फिर यदि वो मन को जड़ नहीं समझता तो क्या कहेगा कौन सी भाषा बोलेगा ये मन बड़ा खराब है चाहे जब उठ पटांग बातों को लाके उठा रख देता बड़ा दुष्ट है अभी तो उठाया था अब फिर इसने वही लाके उठा के उसको मन को गाली देता रहेगा उठाता स्वयं है और गाली मन को देता है अब बताओ क्या करो पंखा चला दिया ठंड लग रही है उसको ये पंखा बहुत खराब देखो कितनी ठंड लग रही है तब भी नहीं रुकता भाई पंखा आपने ही तो चला रखा है पंखा अपने आप तो नहीं चल रहा नहीं नहीं बच्चा ऐसा कर सकता है आपको पता हो बच्चा तो ऐसा कर सकता ना पंखा चल रहा है वहां से छोटा बालक होगा ना जो नहीं जानता हो वो समझेगा कि पंखा जो है अपने आप चल रहा है ये बच्चा जो है और ठंड से ठिठिरता रहेगा पंखा चल रहा है यार एक वो स्थिति बेन उसका हाथ न जाए नहीं नहीं उसके दिमाग में ये बात बैठ गई पंखा चल रहा है पंखा चल रहा है ये नहीं के चला रखा है पंखा चलाता है स्वयं और कहता है ये पंखा चल रहा है मुझे ठंड लग रही है ये नहीं है कि इसका बटन को उल्टा कर दो पंखा रुक जाएगा जीवात्मा मन को चलाता है बुराई में और कहता है मन जा रहा है मन चल रहा है ये बालक है ना पढ़ने लिखने वाले लड़कियां ये छोटी छोटी बैठी कहते हैं पिताजी माताजी मेरा मन नहीं मानता पढ़ाई में लगने के लिए मेरा मन नहीं कर रहा है मेरा मन नहीं बस में आता पढ़ना चाहता हूं फिर मन नहीं मानता वो यही कहता है बालक भाई मन नहीं मानता हाँ हाँ मन नहीं मानता मेरा मन नहीं करता पढ़ने के लिए ऐसा कहता है वो अब माता पिता भी नहीं जानते मन जड़ पदार्थ है या चेतन वो क्या सिखाएगा पिताजी कहेंगे हाँ हाँ बेटा देखो ये मन बहुत खराब है हमको भी संध्या नहीं करने देता है <laughs> वो यही यही कहेगा उसको हम भी संध्या में बैठते हैं और हमारे मन में व्यापार की बात ले आता है हटाते हैं फिर ले आता है अस्सी वर्ष का बूढ़ा भी यही कहता है पढ़ा लिखा भी यही कहता है उसको ये पता नहीं ये मन जड़ पदार्थ है हम चलाते हैं ये ज्ञान काम नहीं कर रहा एक स्थिति और कई बार व्यक्ति मन को रोकते रोकते रोकते रोकते रोकते रोकते थक गया निराश हो गया वो कहता है ये संध्या उन्ध्या हमारे बस की बात है हम नहीं कर सकते ना ये हो सकती ना हम कर सकते ना कोई ईश्वर की चीज उपलब्ध होगी हम तो इतने समय में दुकान पर बैठ जाते ना आधा घंटा तो सौ पचास रूपये कमा लेंगे ठीक है बात बहुत ठीक है कहने लगे अच्छा यही करेंगे जो सन जागा समय लगाते आधा घंटा वो दुकान पर करेंगे या खेत में काम करेंगे अब विचारने का बात वो व्यक्ति कहता है संध्या जब दूसरे लोग कर सकते हैं ऋषि लोग समाधि प्राप्त कर सकते हैं ईश्वर का साक्षात्कार जब होता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता इस पर जोर देता है कहता नहीं मैं भी कर सकता हूं मन को क्यों नहीं रोका जा सकता तो उसने विचार बदल